ये देखिए हर्षित ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर विक्रांत को दिखाते हुए कहा ये क्रॉस स्क्रिप्ट राइटर की बॉडी पर बना हुआ था फिर मैंने जब क्रॉस और स्क्रिप्ट राइटर को एक साथ सर्च किया तो फिर मुझे ये फोटो मिली ये क्या है विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए हर्षित से सवाल किया इस वक्त विक्रांत को स्क्रीन पर एक मनुस्क्रिप्ट नजर आ रही थी जिसे वो बड़े ध्यान से देखते हुए इसे समझने की कोशिश कर रहा था इस मनुस्क्रिप्ट में एक तीर बना हुआ नजर आ रहा था जो कि प्लस के साइन की तरफ पॉइंटेड था इस प्लस के साइन के पास कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा था ये इसका क्या मतलब है विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी करके इस शब्द को बड़े ध्यान से देखते हुए कहा ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है क्या है ये ये इस फोटो में जो स्क्रिप्ट दिख रही है इसका इस्तेमाल फिल्मिंग में किया जाता है क्या एक्टर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म मेकिंग में काम करने वाले सभी लोगों के पास ऐसी स्क्रिप्ट होती है हर्षित ने बताया इसलिए मुझे लगा कि शायद ये जो विक्टिम की बॉडी पर क्रॉस का निशान था इसका कुछ न कुछ कनेक्शन स्क्रिप्ट के साथ है और अभी हर्षित अपनी बात खत्म करने ही वाला था कि अचानक से विक्रांत का फोन बज उठा और ठीक उसी समय वो पुलिस वाला भी लौट के आ चुका था जिसको अभी थोड़ी देर पहले विक्रांत ने भेजा था सर पुलिस वाले ने बड़ी उत्सुकता के साथ बोलना शुरू किया मैंने अभी उन दोनों से बात की है एक्ट्रेस समंता ने बताया कि वो क्रॉस हो सकता है कि प्लस का साइन हो दरअसल जब भी डायरेक्टर या फिर स्क्रिप्ट राइटर प्लॉट में कुछ ऐड करते हैं तब फिर स्क्रिप्ट में एक प्लस का साइन ऐड कर दिया जाता है उसने ये भी बताया कि जो स्क्रिप्ट राइटर नौशाद था वो अक्सर फिल्म की स्टोरी में नए नए प्लॉट ऐड कर देता था जिससे सेट पर सब लोग बहुत इरिटेट होते थे खासतौर पर एक्टर्स एक्स्ट्रा प्लॉट जब विक्रांत को ये बात पता चली तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ उधर अभी भी उसके फोन की घंटी बज ही रही थी उसने फोन निकाल कर चेक किया तो पता लगा कि ये तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर चौटाला का फोन है हेलो चौटाला साहब क्या हुआ विक्रांत ने फोन उठाकर कहा विक्रांत अगर पॉसिबल हो तो अभी वीडियो कॉल कीजिए आपको कुछ दिखाना है चौटाला ने विक्रांत को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन किए बगैर तुरंत ही कहा मैं अभी डेड बॉडीज का फॉरेंसिक टेस्ट शुरू करने ही वाला हूँ लेकिन उससे पहले मुझे कुछ अजीब चीजें पता चली हैं जिसका मुझे लगता है कि केस से भी कुछ न कुछ कनेक्शन हो सकता है इसलिए मैं आपको वीडियो कॉल पर वो चीजें दिखाकर सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ ठीक है अभी तो मैं शिप पर बैठा हूँ विक्रांत ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने हर्षित को इशारा करते हुए फटाफट वीडियो कॉल का सेटअप तैयार करने के लिए कह दिया फिर जैसे विक्रांत और चौटाला साहब के बीच वीडियो कॉल शुरू हुई विक्रांत ने कहा हाँ चौटाला साहब बताइए क्या दिखाना है फोन चौटाला साहब ने अपनी एक लेडीज असिस्टेंट को इशारा करते हुए फोन को खुद के सामने रखी हुई विक्टिम की डेड बॉडी को दिखाने के लिए कहा फिर उन्होंने आगे विक्रांत को बताते हुए कहा हमें जो विक्टिम्स का फोन मिला है उसमें काफी एबनॉर्मल चीजें नोटिस करने को मिली हैं। उन सभी के मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले पिक्चर लगा हुआ है वो चेंज किया गया है मेरी असिस्टेंट तुम्हें एक एक फोटो दिखा रही है मुझे अभी टेस्टिंग का काम शुरू करना है सो मैं जा रहा हूँ इसके बाद प्रोफेसर चौटाला वीडियो कॉल छोड़कर चले गए जबकि उनकी बेहद खूबसूरत असिस्टेंट विक्रांत को एक एक करके सभी विक्टिम का फोटो दिखाने लगी इसके साथ ही वो एक एक करके सभी के बारे में एक्सप्लेन भी कर रही थी evidence number zero zero four nine ये सैमसंग का मोबाइल फोन है सर ये मोबाइल फोन जिस विक्टिम का है उसका नाम रविंद्रन है हम लोगों ने जब इसके फोन को चेक किया तो इसके स्क्रीन पर यह फोटो लगी हुई थी विक्रांत और बाकियों ने बड़े ध्यान से उस फोटो को देखना शुरू किया असिस्टेंट ने अपने फोन के कैमरे को सीधे विक्टिम के फोन की स्क्रीन के सामने कर दिया जिससे विक्रांत को विक्टिम के फोन की स्क्रीन साफ नजर आ रही थी जब उसने ध्यान से देखा तो उसके डिस्प्ले पिक्चर पर तीन नंबर लिखे हुए थे दो पांच पांच विक्रांत को बड़ी कंफ्यूजन हुई उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट है असिस्टेंट ने एक्सप्लेन करना शुरू किया किसी ने पहले विक्टिम के इस फोन में जाकर कैलकुलेटर ओपन किया और फिर कैलकुलेटर में ये तीन नंबर प्रेस किया और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर डिस्प्ले पिक्चर के रूप में लगा दिया फिर उसने आगे बताते हुए कहा नॉर्मल लोग इस तरह की चीजें अपने स्क्रीन पर नहीं लगाते हैं और ऊपर से ये तो नंबर था इसलिए हमें शक है कि शायद ये काम कातिल का है उसने ही विक्टिम के फोन की स्क्रीन पर ये नंबर लगाकर कुछ मैसेज देने की कोशिश की है हम लोग अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोन में ये फोटो कब सेट किया गया है और फिर हम विक्टिम के मर्डर के टाइम से उसे मैच करने की कोशिश करेंगे विक्रांत बड़े ध्यान से असिस्टेंट की बात सुन रहा था लेकिन वाकई में उसे अभी तक इस नंबर का असली मतलब समझ में नहीं आ रहा था एविडेंस नंबर 0050 ये नोकिया का स्मार्टफोन है इस वक्त असिस्टेंट ने एविडेंस वाले फोन को अपने हाथ में ले लिया था और वीडियो कॉल पर इसकी स्क्रीन को दिखाते हुए उसने कहा ये फोन ललिता का है फोन उसी की डेड बॉडी के बाद से मिला था और कंफर्म है कि फोन उसी का है हमने जब इसका फोन ओपन किया तो हमें उसके स्क्रीन पर ये दिखाई दिया हम्म, ये रहा जब सबने ध्यान से फोन के स्क्रीन को देखा तो वो हैरान रह गए ओह ये हर्षित के मुंह से निकल पड़ा दरअसल ललिता जो कि मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी उसके फोन की स्क्रीन पर एक लड़के और लड़की की फोटो लगी हुई थी और वो दोनों न्यूड नजर आ रहे थे लड़के का चेहरा साफ दिख रहा था जो कि फिल्म एक्टर दयाकर था जबकि जो लड़की थी उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था उसके शरीर का पिछला हिस्सा ही नजर आ रहा था ऐसे में अभी तक उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो पाई है आखिर ऐसी फोटो को कौन अपनी स्क्रीन पर लगा कर रखता है ये ये तो मुझे हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन वो बिना अपनी पलकें छपकाए इस फोटो को ध्यान से देखता रहा नहीं विक्रांत ने बड़े ध्यान से उस फोटो को देखते हुए कहा ये इसके चेहरे को ध्यान से देखो देखो इसके चेहरे पर मेकअप लगा हुआ है और और इसकी पोजीशन देखो ये ये पोजीशन कोई नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करता है मतलब मतलब विक्रांत ने फिर उस सीन को बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए बगैर कहा ये शूटिंग चल रही है फिल्म का शॉट है कोई सीन शूट हो रहा है ध्यान से देखो समझ आएगा ओ हर्षित को भी विक्रांत की बात ठीक लगी फिर उसने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हम्म, सही में ये शूटिंग का सीन है अगर ऐसा है तो हमें इसका और सीन मिलना चाहिए मतलब आगे का सीन तुम मुझे ये सब फोटो भेज दो मैं चेक करता हूँ ठीक है मैं ये सब क्लाउड पर अपलोड कर दूंगी असिस्टेंट ने जवाब दिया लेकिन उसने अभी वीडियो कॉल ऑफ नहीं किया था बल्कि उसने आगे के एविडेंस दिखाते हुए कहा सर इस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग ये है एविडेंस नंबर तेईस ये सिग्नल गन है ओ सिग्नल गन का नाम सुनते विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित को इशारा करते हुए एविडेंस फोल्डर में से सिग्नल गन को ओपन करने का इशारा किया फिर असिस्टेंट ने सिग्नल गन की तरफ इशारा करते हुए कहा चौटाला सर ने शक जताया है कि वो जो एक आदमी को जलाकर मारा गया था उसे इसी सिग्नल गन से जलाने की कोशिश की गई थी नहीं सिग्नल गन से भला किसी को कैसे मारा जा सकता है नॉर्मल सिग्नल गन सिर्फ 200 सौ जूल तक का हीट जनरेट कर सकता है और अगर आप किसी आदमी को मारना चाहते हैं तो हर्षित ने अचानक से अपने लफ्जों को संदेह वाले भाव में बदलते हुए खुद को आगे बोलने से रोक दिया सिग्नल गन 50 मीटर तक सिग्नल फ्लेयर भेजी जा सकती है अगर इस गन से किसी इंसान को बहुत करीब से मारा जाए तो ये 200 जूल से ज्यादा हीट पैदा कर सकता है जो कि दुश्मन की जान लेने के लिए काफी है असिस्टेंट ने बड़ी सहजता से एक्सप्लेन करना शुरू किया दूसरी बात चूंकि मैग्नीशियम का इग्निशन पॉइंट काफी लो होता है ऐसे में ये इंसानों के कपड़े में आग लगाकर भी उन्हें मौत के घाट उतार सकता है वेल well, अभी हम लोग आगे की वीडियो कॉल कनेक्ट रहने देते हैं और तुम अपना काम करती रहो अगर कोई अपडेट मिलता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करो विक्रांत ने कहा ठीक है सर अभी मैं आपको फाइल सेंड करने जा रही हूँ इतना कहने के बाद वो लेडी असिस्टेंट कैमरे के सामने से गायब होगी उसके जाने के बाद भी हर्षित बड़े ध्यान से कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखता रहा वो किसी गहरे ख्याल में डूबा हुआ था ओ हीरो गई वो अब क्या देख रहा है विक्रांत ने हर्षित की टांग खींचते हुए कहा <laughs> अच्छी थी ना कितनी खूबसूरत लग रही थी वीडियो कॉल में भी हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ लेकिन उसकी शादी हो चुकी है आपको कैसे पता अरे रिंग नहीं देखा तुमने उसकी उंगलियों में रिंग नहीं था उसके हाथ में यही तो मैंने सबसे पहले चेक किया था <laughs> तो बात करूं चौटाला साहब से कह दो कि अपने असिस्टेंट के हर्षित के पास भेज दो <laughs> हर्षित ने शर्माते हुए हंस दिया काम कर लो पहले बहुत काम पड़ा है विक्रांत ने हर्षित को आंखें दिखाते हुए कहा अरे वो तुम्हें कह ही रहा था मैं कहा उसके पीछे भाग रहा हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तुरंत ही वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें कड़ा कर बैठ गया क्या हुआ ऐसे क्यों बैठे हो कुछ हुआ क्या अब तक अनुष्का यहाँ पहुँच चुकी थी उसने जब हर्षित और विक्रांत को एक दूसरे के बेहद करीब बैठा हुआ देखा तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा हम्म, अजीब तो है विक्रांत ने कहा और फिर इसके बाद उसने अनुष्का को विक्टिम के मोबाइल के स्क्रीन डिस्प्ले वाली सारी बात बताई अनुष्का ने बड़े ध्यान से विक्रांत की सारी बात सुनी और फिर वो भी आश्चर्य में पड़ गई विक्रांत ने अनुष्का की सारी चीजें समझने के बाद कहा अनुष्का तुम हॉस्पिटल फोन करो और थोड़ा पता लगाओ कि जो दो सर्वाइवर है उनकी बॉडी पर कोई सीरियस इंजरी का निशान है क्या और पुलिस को उन लोगों का मोबाइल फोन चेक करने के लिए भी कहो हो सकता है कि उनके मोबाइल फोन में कुछ क्लू मिल जाए हाँ मैं कर रही हूँ अनुष्का ने तुरंत ही कहा अगर मर्डर ने सभी के पास कुछ न कुछ क्लू छोड़ा है तो विक्रांत बड़ी सावधानी से इस बारे में सोचने लगा तभी उसकी नजर वहां पर खड़े लोकल पुलिस वालों पर पड़ी तुम लोग दोनों सर्वाइवर को तुरंत पास ले आओ मुझे उन लोगों से पर्सनली बात करनी है वो दोनों पुलिस ऑफिसर विक्रांत की बात सुनकर चौंक उठे सर ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट सस्पेक्ट हैं उन्हें बिना किसी परमिशन के इंटरोगेशन रूम में लाना बहुत मुश्किल काम है बस मैं जो कह रहा हूँ उतना करो विक्रांत ने फिर तुरंत ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हुए कहा देखो मैं ये सब लेकर उनके पास तो जा नहीं सकता तो उन दोनों को ही मेरे पास लेकर आओ जल्दी जाओ ओके पुलिस वाले के दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बारे में विक्रांत से कोई सवाल जवाब करे वो तुरंत ही विक्रांत का ऑर्डर फॉलो करने के लिए निकल पड़ा उसके जाने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही एक व्हाइट पेपर पर सारे क्लू को लिखकर इसे अरेंज करना शुरू किया यूएसबी स्वीफ्रो एक्सिम क्रॉस 255 फोटो इन सब चीजों को वो बड़े ध्यान से देखने लगा ये सब क्लू काफी अजीब सा लग रहा था वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कातिल चाहता क्या है ओ हो सकता है कि कातिल ने ये सब चीजें पुलिस के लिए क्लू नहीं छोड़ा है बल्कि पुलिस को कुछ दिखाने के लिए छोड़ा हो